अनोशो talk Ashtavakra Mahageeta number four दूसरा प्रश्न आपके महागीता पर हुए पहले प्रवचन के समय अनेक लोग आंसू बहा के रो रहे थे उसका क्या मतलब है क्या रोने वाले कमजोर मन के लोग हैं या आपकी वाणी का यह प्रभाव है कृपया इस पर थोड़ा प्रकाश डालें एक बात पक्की है कि पूछने वाले कठोर मन के आदमी आंसुओं में उन्हें सिर्फ कमजोरी दिखाई पड़ी एक बात पक्की है पूछने वाले व्यक्ति के आंख के आंसू सूख गए आंखें बंजर हो गई मरुस्थल जैसी उनमें फूल नहीं खिलते आंसू तो आंख के फूल हैं पूछने वाले का भाव मर गया है पूछने वाले का हृदय अवरुद्ध हो गया है पूछने वाला सिर्फ बुद्धि से जी रहा होगा उसने भाव को तिलांजलि दे दी सोच विचार से जी रहा होगा प्रेम और करुणा और जीवन की तरफ जो लगाव की चाहत की आनंद की संभावना है उसे इंकार कर दिया होगा कोई रसधार नहीं बहती होगी सूखा साखा मरुस्थल जैसा मन हो गया होगा इसलिए पहली बात यह ख्याल में आई कि जो लोग रोते हैं कमजोर मन के होंगे किसने कहा तुम्हें कि रोना कमजोरी का लक्षण मीरा खूब रोई चैतन्य की आंखों से झरझर आंसू बहे नहीं कमजोरी के लक्षण नहीं भाव के लक्षण भाव की शक्ति के लक्षण और ध्यान रखना भाव विचार से गहरी बात है मैंने कहा पहले कर्म की रेखा फिर विचार की रेखा फिर भाव की रेखा फिर साक्षी का केंद्र भाव साक्षी के निकटतम है भक्ति भगवान के निकटतम है कर्म बहुत दूर है वहां से यात्रा बड़ी लंबी है विचार भी काफी दूर है वहां से भी यात्रा काफी लंबी है भक्ति बिल्कुल पास है ख्याल रखना आंसू जरूरी रूप से दुख के कारण नहीं होते हालांकि लोग एक ही तरह के आंसुओं से परिचित हैं जो दुख के होते करुणा में भी आंसू बहते आनंद में भी आंसू बहते हैं अहोभाव में भी आंसू बहते हैं कृतज्ञता में भी आंसू बहते हैं आंसू तो सिर्फ प्रतीक हैं कि कोई ऐसी घटना भीतर घट रही है जिसको संभालना मुश्किल है दुख या सुख कोई ऐसी घटना भीतर घट रही है जो इतनी ज्यादा है कि ऊपर से बहने लगी फिर वो दुख हो इतना ज्यादा दुख हो कि भीतर संभालना मुश्किल हो जाए तो आंसुओं से बहेगा आंसू निकास है या आनंद घना हो जाए तो आनंद भी आंसुओं से बहेगा आंसू निकास है आंसू जरूरी रूप से दुख या सुख से जुड़े नहीं है अतिरेक से जुड़े हैं जिस चीज का भी अतिरेक हो जाएगा आंसू उसी को लेकर बहने लगेंगे तो जो रोए उनके भीतर कुछ अतिरेक हुआ होगा उनके हृदय पे कोई चोट पड़ी होगी उन्होंने कोई मरमर सुना होगा अज्ञात का दूर अज्ञात की किरण ने उनके हृदय को स्पर्श किया होगा उनके अंधेरे में कुछ उतरा होगा कोई तीर उनके हृदय को पीड़ा और आह्लाद से भर गया रोक ना पाए वो अपने आंसू मेरे बोलने के प्रभाव से इसका कोई संबंध नहीं क्योंकि तुम भी सुन रहे थे अगर मेरे बोलने का ही प्रभाव होता तो तुम भी रोए होते सभी रोए होते नहीं मेरे बोलने से ज्यादा सुनने वाले की हार्दिकता का संबंध है जो रो सकते थे वो रोए और रोना बड़ी शक्ति है एक बहुत अनूठी दिशा को मनुष्य जाति ने खो दिया है विशेषकर मनुष्यों ने खो दिया पुरुषों ने स्त्रियों ने थोड़ा बचा रखा है स्त्रियां धन्यभागी मनुष्य की आंख में पुरुष हो कि स्त्री एक सी ही आंसुओं की ग्रंथियां हैं प्रकृति ने आंसुओं की ग्रंथियां बराबर बनाई इसलिए प्रकृति का तो निर्देश स्पष्ट है कि दोनों की आंखें रोने के लिए बनी लेकिन पुरुष के अहंकार ने धीरे धीरे अपने को नियंत्रण में कर लिया है धीरे धीरे पुरुष सोचने लगा कि रोना स्त्रीण है सिर्फ स्त्रियां रोती इस कारण पुरुष ने बहुत कुछ खोया है भक्ति खोई भाव खोया इस कारण पुरुष ने आनंद खोया अहोभाव खोया इस कारण पुरुष ने दुख की भी महिमा खोई क्योंकि दुख भी निखारता है साफ करता है इस कारण पुरुष के जीवन में एक बड़ी दुर्घटना घटी तुम चकित होगे दुनिया में स्त्रियों की बजाय दुगने पुरुष पागल होते और यह संख्या बहुत बढ़ जाए अगर युद्ध बंद हो जाए क्योंकि युद्ध में पुरुषों का पागलपन काफी निकल जाता है बड़ी मात्रा में निकल जाता है अगर युद्ध बिल्कुल बंद हो जाए सौ साल के लिए तो डर है कि पुरुषों में से नब्बे प्रतिशत पुरुष पागल हो जाएंगे पुरुष स्त्रियों से ज्यादा आत्मघात करते हैं दो गुना आमतौर से तुम्हारी धारणा और होगी तुम सोचते हो कि स्त्रियां ज्यादा आत्मघात करती बातें करती हैं स्त्रियां करती नहीं आत्मघात ऐसा गोली वगैरह खा के लेट जाती हैं मगर गोली भी हिसाब से खाती हैं तो स्त्रियां प्रयास ज्यादा करती हैं आत्मघात का लेकिन सफल नहीं होती उस प्रयास में भी हिसाब होता वस्तुतः स्त्रियां आत्मघात करना नहीं चाहती आत्मघात तो उनका केवल निवेदन है शिकायत का वो ये कह रही कि ऐसा जीवन जीने योग्य नहीं कुछ और जीवन चाहिए था वो तो सिर्फ तुम्हें खबर दे रही कि तुम इतने वज्र हृदय हो गए हो कि जब तक हम मरने को तैयार ना हो शायद तुम हमारी तरफ ध्यान ही ना दोगे वो सिर्फ तुम्हारा ध्यान आकर्षित कर रही ये बड़ी अशोभन बात है कि ध्यान आकर्षित करने के लिए मरने का उपाय करना पड़ता है आदमी जरूर खूब कठोर हो गया होगा पथरीला हो गया होगा स्त्रियां मरना नहीं चाहती जीना चाहती जीने के मार्ग पर जब इतनी अड़चन पाती कोई सुनने वाला नहीं कोई ध्यान देने वाला नहीं तब सिर्फ तुम ध्यान दे सको इसलिए मरने का उपाय करती लेकिन पुरुष जब आत्महत्या करते हैं तो सफल हो जाते पुरुष पागलपन में आत्महत्या करते ज्यादा पुरुष मानसिक रूप से रुग्ण होते हैं कारण क्या होगा बहुत कारण है मगर एक कारण उनमें आंसू भी है मनोवैज्ञानिक कहते हैं पुरुषों को फिर से रोना सीखना होगा यह बल नहीं है जिसको तुम बल कह रहे हो यह बड़ी कठोरता है बल इतना कठोर नहीं होता बल तो कोमल का है तुमने देखा पहाड़ से झरना गिरता है जलप्रपात गिरता है कोमल जल चट्टाने बड़ी सख्त चट्टाने जरूर सोचती होंगी हम मजबूत हैं ये जलधार कमजोर है लेकिन अंततः जलधार जीत जाती चट्टान रेत होकर बह जाती परमात्मा कोमल के साथ है निर्बल के बलराम एक फूल खिला है पास में पड़ी है एक चट्टान चट्टान जरूर दिखती है मजबूत फूल कमजोर लेकिन तुमने कभी फूल की शक्ति देखी जीवन की शक्ति कौन चट्टान को सिर झुकाता है तुम पत्थर को लेकर तो भगवान के चरणों में चढ़ाने नहीं जाते तुम चट्टान सोच के कि बड़ी मजबूत है चलो अपनी प्रेसी को भेंट कर दें ऐसा तो नहीं करते फूल तोड़ के ले जाते हो फूल का बल है फूल की गरिमा है उसकी कोमलता उसका बल है उसका खिलाव उसका बल है उसका संगीत उसकी सुगंध उसका बल है उसकी निर्बलता में उसका बल है सुबह खिला है सांझ मुरझा जाएगा यही उसका बल है लेकिन खिला है चट्टान कभी नहीं खिलती बस है चट्टान मुर्दा है फूल जीवंत है मरेगा क्योंकि जिया है चट्टान कभी नहीं मरती क्योंकि मरी ही है कोमल बनो आंसुओं को फिर से पुकारो तुम्हारी आंखों को गीत और कविता से भरने दो अन्यथा तुम वंचित रहोगे बहुत सी बातों से फिर तुम्हारा परमात्मा भी एक तर्क जाल रहेगा हृदय की अनुभूति नहीं एक सिद्धांत मात्र रहेगा एक सत्य क्या स्वाद और सत्य की प्रतीति नहीं जो आंसू बहाकर रोए वे सौभाग्यशाली वे बलशाली उन्होंने फिक्र ना की कि तुम क्या कहोगे उनको भी फिक्र तो लगती है कि लोग क्या कहेंगे जब कोई आदमी जार जार रोने लगता है तो उसे भी फिक्र लगती है कि लोग क्या कहेंगे बल चाहिए रोने को कि फिक्र छोड़े कि लोग क्या कहेंगे कहने दो होंगे बदनाम तो हो लेने दो हमको जी खोल के रो लेने दो जब कोई आदमी रोता है छोटे बच्चे की तरह बिसूरता है तो थोड़ा सोचो उसका बल तुम सबकी फिक्र नहीं की उसने उसने ये फिक्र नहीं की कि लोग क्या कहेंगे कि मैं यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर हूं और रो रहा हूं कोई विद्यार्थी देख ले कि मैं इतना बड़ा दुकानदार और रो रहा हूं कोई ग्राहक देख ले कि मैं इतना बलशाली पति और रो रहा हूं और पत्नी पास बैठी घर जाके झंझट खड़ी होगी कि मैं बाप हूं और रो रहा हूं और बेटा देख ले छोटे बच्चे देख ले संभाल लो अपने को अहंकार संभाले रखता है ये निरहंकार रोया अहंकार अपने को सदा नियंत्रण में रखता है निरअहकार बहता है उसमें बहाव है जे सुलगे ते बुझी गए बुझे ते सुलगे नाई रहीमन दाहे प्रेम के बुझ बुझ के सुलगाई अंगारे जलते हैं जे सुलगे ते बुझी गए लेकिन एक घड़ी आती बुझ जाते फिर तुम दोबारा उन्हें नहीं जला सकते राख को किसी ने कभी दोबारा अंगारा बनाने में सफलता पाई जे सुलगे ते बुझ गए बुझे ते सुलगे नाही फिर एक दफा बुझ के वो कभी नहीं सुलगते रहीमन दाहे प्रेम के लेकिन जिनके हृदय में प्रेम का तीर लगा उनका क्या कहना रहीम रहीमन दाहे प्रेम के बुझ बुझ के सुलगाए बार बार जलते बार बार बुझते फिर फिर सुलग जाते प्रेम की अग्नि शाश्वत है सनातन है जिन्होंने मुझे प्रेम से सुना वो रो पाएंगे जिन्होंने मुझे सिर्फ बुद्धि से सुना वो कुछ निष्कर्ष ज्ञान लेके जाएंगे वो राख लेके जाएंगे प्रेम का अंगारा नहीं वो ऐसी राख लेके जाएंगे जो फिर कभी नहीं सुलगेगी याद रखना वो बुझ गई वो तो मैंने तुमसे जब कही तभी बुझ गई अगर तुमने बुद्धि में ली तो राख अगर तुमने हृदय में ली तो अंगारा इसलिए प्रेम का अंगारा जिनके भीतर पैदा हो जाएगा वो तो फिर जलेगा फिर बुझेगा फिर जलेगा वो तो तुम्हें खूब तड़फाएगा वो तो तुम्हें निखारेगा वो तो तुम्हारे जीवन में सारा रूपांतरण ले आएगा दिल खोल के अगर तुम रो सके तो अंगारा हृदय में पहुंच गया इसकी खबर दी अगर न रो सके तो बुद्धि तक पहुंचा थोड़ी राख इकट्ठी हो जाएगी तुम थोड़े जानकार हो जाओगे तुम दूसरों को समझाने में थोड़े कुशल हो जाओगे बात विवाद तर्क करने में तुम थोड़े निपुण हो जाओगे बाकी मूल बात चूक गई जहां से अंगारा ला सकते थे वहां से सिर्फ राख लेके लौट आए फिर तुम उस राख को चाहे विभूति कहो कुछ फर्क नहीं पड़ता राख राख है लगी आग उठे दर्द के राग दिल से तेरे गम में आतस बयां हो गए हम खिरत की बदौलत रहे रास्ते में गुबारे पसे कारवां हो गए हो लगी आग उठे दर्द के राग दिल से वो आंसू आग लग जाने के आंसू थे जब किसी को रोकते देखो उसके पास बैठ जाना वो घड़ी सत्संग का है वो घड़ी छोड़ने जैसी नहीं तुम नहीं रो पा रहे तो कम से कम रोते हुए व्यक्ति के पास बैठ जाना उसका हाथ हाथ में ले लेना शायद बीमारी तुम्हें भी लग जाए लगी आग उठे दर्द के राग दिल से आग लग जाए ये गैरिक वस्त्र आग के प्रतीक है ये प्रेम की आग के प्रतीक है तेरे गम में आतस बयां हो गए हम और जब तुम्हारे भीतर हृदय में पीड़ा उठेगी विरह का भाव उठेगा तुम्हारी श्वास श्वास में जब अग्नि प्रकट होने लगेगी आतस बयां तेरे गम में आतस बयां हो गए हम खिरत की बदौलत रहे रास्ते में बुद्धि की बदौलत तो रास्ते में भटकते रहे खिरत की बदौलत रहे रास्ते में गुब्बारे पसे कारवां हो गए हम और बुद्धि के कारण धीरे धीरे हमारी हालत ऐसी हो गई जैसे कारवां गुजरता उसके पीछे धूल उड़ती रहती हम धूल हो गए धूल के अतिरिक्त बुद्धि के हाथ में कभी कुछ लगा नहीं है खिरत की बदौलत रहे रास्ते में गुब्बारे पसे कारवां हो गए हम जो दिल अपना रोशन हुआ कृष्ण मोहन हदें मिट गई बेकर हो गए हम जो दिल अपना रोशन हुआ कृष्ण मोहन अगर प्रेम में पड़ जाए चोट हृदय पे लग जाए चोट खिल जाए वहां आग का अंगारा जो दिल अपना रोशन हुआ कृष्ण मोहन हदें मिट गई बेकरां हो गए हम उस घड़ी फिर सीमाएं टूट जाती असीम हो जाते आंसू असीम की तरफ तुम्हारा पहला कदम है आंसू इस बात की खबर है कि तुम पिघले तुम्हारी सख्त सीमाएं थोड़ी पिघली तुम थोड़े नरम हुए तुम थोड़े गर्म हुए तुमने ठंडी बुद्धि थोड़ी छोड़ी थोड़ी आग जली थोड़ा ताप पैदा हुआ ये आंसू ठंडे नहीं है ये आंसू बड़े गर्म है और ये आंसू तुम्हारे पिघलने की खबर लाते हैं जैसे बर्फ पिघलती है ऐसे जब तुम्हारी भीतर की अस्मिता पिघलने लगती तो आंसू बहते हैं कतीले हवस थे तो आतस नफस थे मोहब्बत हुई बेजुबा हो गए हम जब बुद्धि से भरे थे वासनाओं से भरे थे विचारों से भरे थे तो लाख बातें की जवान बड़ी तेज थी कतीले हवस थे तो आतस नफस थे मोहब्बत हुई बेजुबा हो गए हम वे आंसू बेजुबान अवस्था की सूचनाएं जब कुछ ऐसी घटना घटती है कि कहने का उपाय नहीं रह जाता तो न रो तो क्या करो जब जवान कहने में असमर्थ हो जाए तो आंखें आंसुओं से कहती जब बुद्धि कहने में असमर्थ हो जाए तो कोई नाच के कहता है मीरा नाची कुछ ऐसा हुआ कि कहने को शब्द ना मिले पद घुंगरू बांध मेरा नाची रे रोई जार जार रोई कुछ ऐसा हो गया कि शब्दों में कहना संभव न रहा शब्द बड़े संकीर्ण मालूम हुए आंसू ही कह सकते थे आंसुओं से ही कहा नहीं इस तरह के भाव मन में मत लेना कि वो लोग कमजोर हैं वे लोग शक्तिशाली हैं उनकी शक्ति कोमलता की है उनकी शक्ति संघर्ष की और हिंसा की नहीं है उनकी शक्ति हार्दिकता की क्योंकि अगर तुमने सोचा कि ये लोग कमजोर हैं तो फिर तुम कभी भी ना रोओगे इसलिए तुमसे बार बार जोर देकर कह रहा हूं उनको कमजोर मत समझना उनसे ईर्षा करो बार बार सोचो कि क्या हुआ कि मैं नहीं रो पा रहा हूं भाव से भरा व्यक्ति स्वयं के केंद्र के सर्वाधिक निकट है और जितना ही भाव से भरा व्यक्ति स्वयं के निकट होता है उतनी ही ज्यादा पीड़ा को अनुभव करता है तुम जितने घर से ज्यादा दूर हो उतने ही घर को भूलने की सुगमता है जैसे जैसे घर करीब आने लगता है वैसे वैसे घर की याद भी आने लगती तुम परमात्मा को भूल के बैठे हो परमात्मा शब्द तुम्हारे कानों में पड़ता है लेकिन कोई हलचल नहीं होती सुन लेते हो एक शब्द मात्र है परमात्मा शब्द मात्र नहीं है उसे सुन लेने भर की बात नहीं है जिसके भीतर कुछ थोड़ी सी अभी भी जीवन की आग है उसे परमात्मा झकझोर देगा शब्द मात्र झकझोर देगा चाहते हो अगर मुझे दिल से फिर भला किस लिए रुलाते हो भक्त सदा परमात्मा से कहते रहे चाहते हो अगर मुझे दिल से फिर भला किस लिए रुलाते हो रोशनी के घने अंधेरों में क्यों नजर से नजर चुराते हो पास आए न पास आकर भी पास मुझको नहीं बुलाते हो किस लिए आसपास रहते हो किस लिए आसपास आते हो तो अगर तुमने मुझे ठीक से सुना तो तुम्हें परमात्मा बहुत बार बहुत पास मालूम पड़ेगा किस लिए आसपास रहते हो किस लिए आसपास आते हो पास आए न पास आकर भी पास मुझको नहीं बुलाते हो चाहते हो अगर मुझे दिल से फिर भला किस लिए रुलाते हो रोशनी के घने अंधेरों में क्यों नजर से नजर चुराते हो जो व्यक्ति भाव में उतर रहा है वो बिल्कुल इतने करीब है परमात्मा के कि परमात्मा की आंच उसे अनुभव होने लगती नजर में नजर पड़ने लगती सीमाएं एक दूसरे को ऊपर उतरने लगती एक दूसरे की सीमा में अतिक्रमण होने लगता है यहां जो कहा जा रहा है वो सिर्फ कहने को नहीं है वो तुम्हें रूपांतरित करने को है वो सिर्फ बात की बात नहीं है वो तुम्हें संपूर्ण रूप से जड़ मूल से बदल देने की बात है